संन्यास जीवन का त्याग है या कि जीवन जीने की कला निर्मल भारती सदियों से संन्यास जीवन का त्याग रहा है और वही भ्रांति थी जिसके कारण संन्यास सर्वव्यापी नहीं हो सका उसी चट्टान से टकराकर सन्यास के फूल की पखरियां बिखर गई सन्यास कोमल फूल है और त्याग की कठोर धारणा है उस नाजुक सी चीज को नष्ट करने में समर्थ हो गई त्याग की धारणा में ही बुनियादी रूप से अज्ञान है त्याग का अर्थ है भगोड़ापन पलायनवाद कायरता त्याग के लिए किसी बुद्धिमत्ता की कोई आवश्यकता नहीं है जीने के लिए बुद्धिमत्ता चाहिए प्रखरता चाहिए प्रतिभा चाहिए भागने के लिए तो प्रतिभा की कोई जरूरत नहीं युद्ध के मैदान से जो भागते हैं उन्हें तो हम कायर कहते और जीवन के रण क्षेत्र से जो भाग जाते उनको उनको रण छोड़ दास जी वे भी भगोड़े अच्छे नाम देने से कुछ भी ना होगा सुंदर नामों की ओट में गंदगियां कितनी देर तक छिपाई जा सकती एक और तो धर्म कहते रहे संसार परमात्मा का सृजन है और दूसरी ओर यही लोग कहते रहे कि संसार को छोड़ो त्यागो संसार पाप है अगर संसार परमात्मा का सृजन है तो परमात्मा पापी है यह तो सीधा सा गणित है अगर संसार गलत है तो संसार को बनाने वाला ठीक कैसे हो सकेगा और अगर संसार को बनाने वाला ठीक है तो उसकी कृति भी सुंदर हो जाएगी परमात्मा अगर सृष्टा है तो सृष्टि सौंदर्य है यह उसका काव्य है यह उसके हाथ से रंगा हुआ चित्र इसके सब रंग उसने ही तो भरे उसकी ही तूलिका के तो चिन्ह है जगह जगह उसके ही तो हस्ताक्षर हैं पत्ते पत्ते पर लेकिन महात्मा दोहरी बातें कहते रहे एक तरफ कहते रहे परमात्मा ने सृष्टि बनाई और दूसरी तरफ कहते रहे छोड़ो भागो त्यागो और हमें विकृति भी ना दिखाई पड़ी उनके तर्क में हम सुनते सुनते इस बात के इतने आदि हो गए कि हमने कभी सोचा ही नहीं असल में हमें सोचने की क्षमता ही धर्म ने नहीं दी सोचने की क्षमता हमसे छीन ली हमसे कहा विश्वास करो हमसे नहीं कहा कि जागो होश से भरो हमसे कहा जो कहा जाए उसे मानो बाबा वाक्य प्रमाणम जो भी कहा जाए वो कितना ही मूढ़तापूर्ण हो उसे स्वीकार करो अंगीकार करो यही आस्तिकता थी इसलिए हमने आस्तिकता के भीतर छिपी हुई विसंगतियों को नहीं देखा क्योंकि जो देखे वो नास्तिक जो देखे वो नरक में पड़े अंधों के लिए स्वर्ग था आंख वालों के लिए नरक था कौन जाना चाहे नरक में इससे बेहतर है आंख बंद कर ही जियो अंधे होकर ही जी लो चार दिन की जिंदगी है आंख बंद करके गुजार लो फिर पुरस्कार है स्वर्ग का और सार क्या है प्रश्न उठाने में क्यों झंझट में पड़ो पंडितों से पुरोहितों से राजनेताओं से समाज के ठेकेदारों से झंझट लेनी सुगम बात तो नहीं उपद्रव मोल लेना है बगावत है तो धर्म हमेशा से रूढ़ियों के परिपोषक रहे अंधेपन के समर्थक रहे उन्होंने विचार की आग नहीं जलाई उन्होंने विचार की आग को बुझाया उन्होंने चिंतन और मनन को गति नहीं दी मारा हत्या की इसलिए वे हमसे न मालूम कैसी कैसी मूढ़तापूर्ण बातें मनवा सके मनवा ही नहीं सके करवा भी सके सन्यास त्याग नहीं सन्यास परम भोग है मैंने कल ही तुमसे कहा विष्णु सहस्त्र नाम में परमात्मा का एक नाम है महाभोग वही नाम मुझे सर्वाधिक प्यारा है क्योंकि उस नाम में बात जैसे पूरी पूरी आ गई जीवन को भोगने की कला संन्यास है निश्चित ही सितार को तोड़ देना तो कोई भी कर सकता है सितार बजाने के लिए कोई रविशंकर चाहिए वर्षों की तपश्चर्या चाहिए तोड़ने में तपश्चर्या नहीं करनी होती तोड़ने में क्या है एक बच्चा तोड़ दे लेकिन सितार को बजाना हो ऐसा बजाना हो कि दीपक राग उठे कि बुझे दिए जल जाएं, तो फिर वर्षों का श्रम और साधना चाहिए त्याग में कोई साधना नहीं मूल से मूढ़ व्यक्ति भाग सकता है भागने में क्या है भय काफी है बस भयभीत कर दो लोग भागने लगेंगे लोगों को डरा दो लोग भागने लगेंगे लेकिन अगर सितार बजाना सीखना है तो वर्षों सतत अहिर्निश श्रम करना होगा एक दिन में बात नहीं आ जाती पहले दिन तो सितार बजाओगे तो भरोसा ही नहीं आएगा कि इस सितार में से कभी राग उठने वाले विराग ही उठेगा राग नहीं शोरगुल उठेगा संगीत नहीं मुल्ला नसरुद्दीन ने नया नया सितार खरीद लिया सुन लिया होगा किसी वादक प्रभावित हो गया होगा और बस आके बजाना शुरू कर दिया बस वो एक ही तार को ठोंकता रहे रारू रारू रारू पत्नी पगलाने लगी बच्चे घबराने लगे बच्चे कहें कि पापा परीक्षा पास आ रही और हमें सिवाय राहरू के कुछ सुनाई नहीं पड़ता हम परीक्षा में क्या रारू रारू लिखेंगे हमें कुछ सूझते ही नहीं हमने बहुत से थार बजाने वाले देखे मगर ये आप क्या कर रहे हैं पत्नी सिर ठोंके बर्तन तोड़े प्लेटें फूटे सब्जी में ज्यादा नमक डाल दे सब्जी कम मिर्च ज्यादा मगर उससे और जोश चढ़े उसको और रारू मोहल्ले पड़ोस के लोग भी हैरान हो गए न सोने दे न चैन से रहने दे किसी को आखिर सारे मोहल्ले के लोग इकट्ठे हुए और हाथ जोड़े कि या तो हम मोहल्ला छोड़ें या आप ये क्या कर रहे हो हमने बहुत बजाने वाले देखे मगर आप गजब के बजाने वाले हो ऐसा ना कभी हुआ ना कभी होगा बजाने वाला ये कौन सा राग है नसरुद्दीन मुस्कुराया और उसने कहा कि दूसरे बजाने वाले अभी अपने स्वर को खोज रहे हैं मैंने पा लिया वो तलाश में इस तार से उस तार पे जाते और मैंने पा लिया अपना गंतव्य मैं क्यों भटकू मुझे मिल गया मेरा स्वर अब तो मैं हूं मेरा स्वर है यही बचेगा जिसको रहना हो इस मोहल्ले में रहे जिसको जाना हो जाए वैराग्य में कोई संगीत है कोई सौरभ है कोई फूल खिलते कोई जीवन का उल्लास है कोई आह्लाद है नृत्य है वैराग्य के लिए कोई कला चाहिए कोई कलाविद चाहिए कोई आवश्यकता नहीं कोई भी भाग सकता है और जिंदगी दुख से भरी है इसमें कोई शक नहीं दुख से भरी है इसलिए कि हम मूड हैं इसलिए नहीं कि जिंदगी बुरी है तुम्हें बार बार कहा गया संसार दुख है लेकिन इस तरह कहा गया है कि जैसे संसार का स्वभाव दुख है मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं कि संसार दुख है क्योंकि हम मूड हैं अन्यथा संसार दुख नहीं है जहां इतने मूड इकट्ठे हों वहां दुख होना स्वाभाविक है सच पूछो तो बड़ा चमत्कार है कि दुख इतना कम क्यों है करोड़ों करोड़ों मूड लगे हैं फिर भी दुख कुछ बहुत ज्यादा नहीं है संसार दुख नहीं है ना सितार में शोरगुल है संसार तो एक अवसर है अनुभव के लिए आत्म साक्षात्कार के लिए परमात्म प्रतीति के लिए लेकिन तब तुम्हें बड़ी बुद्धिमत्ता चाहिए तुम्हें धार रखनी पड़ेगी अपनी प्रतिभा पर तुम्हें तीक्ष्ण होना पड़ेगा तुम्हें ध्यान को सजग करना होगा तुम्हें ध्यानपूर्वक जीना होगा तुम्हें बड़ी सावचेतता बरतनी होगी एक एक कदम फूंक के रखना होगा होशियारी से कुशलता से अंधों की तरह मूढ़ों की तरह दौड़े चले जाओगे तो टकराओगे टकराओगे तो दुख होगा दुख जरूर है मगर दुख इसलिए नहीं कि संसार का स्वभाव दुख दुख इसलिए है कि हम ना समझ तुम्हारी बगिया में फूल नहीं खिलते इसका कारण यह नहीं है कि बगिया का कोई कसूर है फूल खिलें तो खिलें कैसे घास पात तो उगाते हो कंकड़ पत्थर तो बीनते नहीं गुलाबों को तो उखाड़ के फेंक देते हो फूल लगेंगे कैसे एक बात समझ लेने की है कि घास पात उगाने के लिए कोई मेधा नहीं चाहिए घास पात अपने से उगाता है मुल्ला नसरुद्दीन के पड़ोसी ने पूछा नसरुद्दीन से कि तुम्हारी बगिया का लान बड़ा प्यारा मैंने भी लाके दूब के बीज बोए अब अंकुर भी आने शुरू हो गए लेकिन कौन से अंकुर दूब के और कौन सा सिर्फ व्यर्थ घास पात ये कैसे पहचान मुल्ला ने कहा बड़ी सीधी तरकीब दोनों को उखाड़ के फेंक दो फिर जो अपने आप उगा है वो घास पात घास पात अपने से उगाता है इसको उगाना नहीं पड़ता नीचे की तरफ जाना हो तो तुम कार का इंजन बंद कर सकते हो उसके लिए कोई पेट्रोल जलाने की जरूरत नहीं लेकिन कार को पर्वत पर ले जाना हो तो फिर इंजन बंद करके नहीं चलेगा काम फिर तो तुम्हें होश पूर्वक गाड़ी चलानी पड़ेगी इंजन को सक्रिय करना होगा जो लोग जीवन में उतर रहे ढलान पर उनके जीवन में कोई कला नहीं चाहिए इसलिए भगोड़ापन लोगों को जच गया था कमजोरों को जच गया था वो भाग गए और न केवल खुद भाग गए वो अपने पीछे ये भाव छोड़ते चले गए कि जीवन विषाद है कि जीवन दुख है कि जीवन गलत है जीवन में कुछ भी गलत नहीं जीवन तो परमात्मा का प्रकट रूप है यह तो उसकी देह है उसकी काया है जैसे तुम्हारे भीतर आत्मा छिपी दिखाई नहीं पड़ती देह दिखाई पड़ती वैसे ही संसार दिखाई पड़ता है उसके भीतर जो छिपा है वह परमात्मा है तुम छोड़ के भागोगे तो फिर खोजोगे कैसे खोदोगे कैसे माना कि खुदाई कठिन है पत्थर भी आएंगे चट्टाने भी तोड़नी पड़ेंगी श्रम करना होगा गहरा तब कहीं जल स्रोत तक पहुंच पाओगे लेकिन सस्ते नुस्खे मिल गए लोगों को कि सब छोड़ छाड़ के बैठ जाओ राम राम जपते रहो सब ठीक हो जाएगा काश इतना आसान होता सब तो तो हमने जिंदगी को अब तक स्वर्ग बना लिया होता इतने तो तुम्हारे सन्यासी हुए जिंदगी स्वर्ग तो ना बनी रोज रोज नरक बनती चली गई अब समय आ गया कि पुनर्विचार करें हम कहीं कोई बुनियादी भूल हो गई और मैं इसको बुनियादी भूल कहता हूं निर्मल कि सन्यास को जीवन का त्याग समझा वही भूल हो गई सन्यास में जरूर कुछ त्याग है लेकिन वो जीवन का त्याग नहीं है मूढ़ता का त्याग है जरूर कुछ त्याग है लेकिन वो जीवन का त्याग नहीं मूर्छा का त्याग है जरूर कुछ त्याग है लेकिन वो जीवन का त्याग नहीं है क्रोध का लोभ का मोह का ईर्षा का अहंकार का इन सारे रोगों का त्याग है और इनके त्याग के लिए कोई हिमालय जाने की जरूरत नहीं इनके लिए श्रेष्ठतम कोई अवसर अगर कहीं है तो यही बीच बाजार में क्योंकि यही प्रतिपल परीक्षा होती रहती प्रतिपल अवसर आते जहां क्रोध भबक उठता है वासना जग जाती है ईर्षा के बादल घने हो आते हिमालय की गुफा में बैठ जाओगे तो पता ही नहीं चलेगा वहां तो अवसर से ही चूक जाओगे भीतर सब बीज पड़े रह जाएंगे जीवन रूपांतरित नहीं होगा और जरा सी भी कसौटी का कोई मौका आया कि तुम फिसल जाओगे यही जीवन में ही जो व्यर्थ है उसे छोड़ो मगर जीवन व्यर्थ नहीं है और व्यर्थ को छोड़कर ही तुम जान पाओगे जीवन की सार्थकता कचरा छोड़ो मगर कचरे के साथ सोने को मत फेंक देना कंकड़ पत्थर छोड़ो मगर यही हीरे भी हैं उन हीरों को मत छोड़ देना भगोड़े सब छोड़ के भाग गए कंकड़ पत्थर भी हीरे भी इसलिए तुम्हारे तथाकथित पलायनवादी सन्यासियों के जीवन में तुम्हें कोई ज्योति नहीं दिखाई पड़ेगी एक विषाद दिखाई पड़ेगा एक गहरी हताशा एक निराशा उनकी आंखों में तुम्हें आनंद के दिए जलते हुए नहीं मालूम पड़ेंगे दिवाली नहीं बल्कि जैसे दिवाला निकल गया हो जीवन का रास जीवन का आनंद जीवन का रस जो पिएगा ध्यानपूर्वक रोज उसकी दिवाली रोज उसकी होली रोज रंगों की फुहार है रोज गीतों का जन्म है रोज पैरों में उसके पायल बजेगी रोज उसके प्राणों की बांसुरी बजेगी उसके जीवन में मोर मुकुट बंधेगा उसके जीवन में चारों तरफ एक सुगंध होगी एक सुवास होगी इसलिए मैं तो सन्यास को जीने की कला कहता हूं मेरे सन्यासी को एक नए सन्यास के लिए आवाहन करना है जगत में इसलिए मेरे सन्यासी के सामने एक महत्कारी है मेरा सन्यासी साधारण सन्यासी नहीं साधारण सन्यास के दिन खत्म हुए लद गए मर गई वो बात अजायब घरों में रखे जाएंगे उस तरह के लोग जल्दी उनका कोई स्थान नहीं रहा उनकी जीवन से जड़ें टूट चुकी हैं वे अप्रासंगिक हो गए मैं तुम्हें जो सन्यास दे रहा हूं वो भविष्य का सन्यास है उसका भविष्य है और ऐसा सन्यास फैल सकता है आग की लपटों की तरह सारी पृथ्वी को घेर ले सकता है क्योंकि इस सन्यास के लिए न कहीं जाना है न कुछ थोथे उपक्रम करने बल्कि जीवन को भीतर से बदलना है और जीवन को जीने की कला सीखनी ध्यान जीवन को जीने की कला है वही जीवन को जानते हैं जो ध्यानस्थ है जो अपने केंद्र पर थिर हो गए वही पहचानते अहोभाग्य को जो हमें अस्तित्व ने दिया है उनके जीवन में एक धन्यता है उनके प्राणों में एक कृतज्ञता है वे झुकेंगे समर्पण में उनके भीतर से प्रार्थना उठेगी प्रार्थना की गंध प्रार्थना का रंग उनसे फूटेगा झरने फूटेंगे स्वभावता क्योंकि जीवन में उनको दिखाई पड़ना शुरू होगा कितना मिला है कितना जिसकी हमारी कोई पात्रता नहीं थी कितना जिसके लिए हमने कोई कमाई नहीं की थी जो सिर्फ प्रकृति की देन है हमारी झोली भरी है मगर हम उस झोली की तरफ देखते नहीं और हम टुच्ची बातों में उलझे हुए हैं छोटी बातों में उलझे हुए निर्मल सन्यास को जीवन की कला समझो कठिन बात है यह मैं तुम्हें एक कठिन चुनौती दे रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे कह रहा हूं कि भागना मत भागना बिल्कुल आसान है मैं तुमसे कह रहा हूं यही मैं तो किसी को भी कुछ छोड़ने को नहीं कहता अगर मुझसे चोर भी आके कहता है कि मैं सन्यासी होना चाहता हूं मैं कहता हूं हो जाओ वो कहता है मेरी चोरी का क्या होगा मैं कहता हूं वो पीछे देखेंगे सन्यास देखेगा उसको तुम चोर हो ठीक है इतना ही क्या कम है कि चोर होकर भी तुम्हारे मन में सन्यासी होने का भाव उठा तुम साहूकारों से बेहतर जिनके भीतर सन्यासी होने का भाव नहीं उठा वो क्या खाक साहूकार है वो चोर है तुम साहूकार हो मेरे देखने का ढंग और है अगर मैं तुम्हें चोरी करते हुए भी पालूंगा तो मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम सन्यासी होकर और चोरी कर रहे हो मैं यही कहूंगा कि तुम अद्भुत व्यक्ति हो कि चोर होके भी सन्यासी हो मेरे देखने का ढंग विधायक है एक यहूदी आश्रम में दो युवक सुबह सुबह बगीचे में टहल रहे हैं दोनों को सिगरेट पीने की आदत है और एक घंटे भर के लिए उनको आश्रम में घूमने का अवसर मिलता है बगीचे में वो भी घूमने के लिए नहीं मिलता घूमकर ध्यान करने के लिए मिलता है शेष तेईस घंटे तो आश्रम के भीतर वहां तो सिगरेट पीने का सवाल उठता नहीं यहां बाहर पी सकते हैं क्योंकि यहां गुरु मौजूद नहीं मगर मन में उनको संकोच लगता है अंतकरण में चोट पड़ती है कि क्या ये उचित है क्या हम इस तरह करें तो उन्होंने कहा बेहतर है हम गुरु से पूछ लें कल पूछ लें फिर शुरू करें दूसरे दिन दोनों मिले एक तो बहुत ही उदास बैठा था बगीचे में और दूसरा सिगरेट पीता हुआ धुआं उड़ाता चला आ रहा था पहला युवक तो भुन्ना गया उसने कहा कि मामला क्या है तुम सिगरेट पी रहे हो गुरु की आज्ञा नहीं मानोगे उसने कहा गुरु से आज्ञा ली तब तो पी रहा हूं उसने कहा ये कैसे गुरु है क्योंकि मैंने पूछा एकदम नाराज हो गए एकदम पास में डंडा पड़ा था डंडा उठा लिया कहा सिर तोड़ दूंगा शर्म नहीं आती तुमको कैसे आज्ञा दी दूसरा युवक मुस्कुराने लगा उसने कहा पहले तुम ये कहो तुमने पूछा क्या था उसने कहा क्या पूछा था मैंने यही पूछा था कि अगर मैं ध्यान करते समय सिगरेट पीऊं तो कोई एतराज तो नहीं बस वो एकदम बन्ना गए एकदम डंडा उठा लिया का सिर तोड़ दूंगा शर्म नहीं आती ध्यान करते हुए सिगरेट तो यहां आए किस लिए थे दूसरे युवक ने कहा शांत हो जाओ अब मैं तुम्हें बताता हूं राज मैंने भी पूछा मैंने उनसे पूछा गुरुदेव सिगरेट पीते वक्त अगर ध्यान करूं तो कोई ऐतराज उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं अब सिगरेट तो पी ही रहे हो अगर इसमें ध्यान और जुड़ा तो बुरा नहीं है कुछ भी बुरा नहीं सदुपयोग हो गया और अगर सिगरेट और ध्यान साथ चले तो ध्यान जीत कर रहेगा तू फिक्र न कर सिगरेट पी और ध्यान कर ये तेरे मन में बड़ा शुभ भाव उठा है ये सिगरेट पीने वालों को मुश्किल से उठता है इसलिए तुम देखते हो इस आश्रम में एक ही स्थान को हम मंदिर कहते जहां लोग सिगरेट पीते धूम्रपान मंदिर बाकी कोई स्थान मंदिर इस आश्रम में है ही नहीं मेरा देखने का ढंग विधायक है नकारात्मक नहीं नहीं पर मेरा जोर नहीं हां पर मेरा जोर है मैं विधायकता को ही आस्तिकता कहता हूं नकार को नास्तिकता कहता हूं ईश्वर को मानने न मानने से आस्तिक और नास्तिक का कोई संबंध नहीं आस्तिकता और नास्तिकता बड़ी और बात है जीवन को विधायक ढंग से देखने का नाम आस्तिकता है इसलिए मेरे लिए महावीर आस्तिक हैं बुद्ध आस्तिक हैं यद्यपि उन्होंने ईश्वर को नहीं माना फिर भी परम आस्तिक है कौन उन जैसा आस्तिक होगा यद्यपि हिंदू इस बात को मानने को राजी नहीं होते कि वो आस्तिक है कैसे होंगे क्योंकि हिंदुओं की तो परिभाषा बड़ी ओछी थी उन दिनों तो और भी ओछी थी बुद्ध और महावीर के समय में तो हिंदुओं की आस्तिकता की परिभाषा थी जो वेद को माने वो आस्तिक जो वेद को न माने वो नास्तिक ये भी कोई बात हुई कहीं किसी किताब के मानने न मानने से आस्तिकता नास्तिकता तय होती तब तो फिर सब मुसलमान नास्तिक सब ईसाई नास्तिक सब यहूदी नास्तिक सब पारसी नास्तिक सब जैन नास्तिक सब बौद्ध नास्तिक तो इस दुनिया में आस्तिक बचेंगे ही कहां यही रह जाएंगे थोड़े से हिंदू और इनमें भी सूत्रों को छोड़ दो क्योंकि वो तो वेद पढ़ ही नहीं सकते तो क्या खाक मानेंगे फिर इनमें से स्त्रियों को भी छोड़ दो क्योंकि स्त्रियों को तो वेद पढ़ने का कोई अधिकार नहीं इनको तो एक ही अधिकार है पिटने का ढोल गमार शूद्र पशुनारी ये पता नहीं बाबा तुलसीदास से कब छुटकारा होगा इस आदमी से ज्यादा भ्रष्ट करने वाला इस देश को दूसरा कोई व्यक्ति नहीं हुआ मगर बिठ गई है बैठ गई है बात हमारे दिमाग में जैसे ढोल को पीटो ऐसे स्त्रियों को पीटो ये पुरुषों के ही दिमाग में बैठ गई होती तो भी ठीक था स्त्रियों तक के दिमाग में बैठ गई अगर पुरुष स्त्रियों को पिटाई ना करे तो उनको लगता शायद प्रेम नहीं करता क्या आजकल मारपीट होती नहीं घर में मतलब सब शांति है सब खत्म हो गया खेल खत्म पैसा हजम कुछ होती थी मारपीट तो उसका मतलब था अभी कुछ लग, लगाव जारी अभी कुछ बात बनी अभी कुछ नाता रिश्ता चलता है स्त्रियां तक राह देखती हैं कि पीटो क्योंकि उनको भी वही बाबा तुलसीदास समझा गए सच तो यह कि जितना स्त्रियां सुनने जाती रामायण पुरुष नहीं जाते अरे पुरुष जाए क्यों उनको तो राज की बात मिल गई स्त्रियां जाती हैं सीखने के लिए कि सीता के साथ कैसा राम ने व्यवहार किया ऐसा व्यवहार भी अगर तुम्हारे पति तुम्हारे साथ करें तो भी वो परमात्मा स्वरूप है गर्भिणी स्त्री को भी अगर जंगल में भेज दें एक धुब्बड़ के कहने से अगर ऐसी ही शान की बात थी अगर ऐसी ही बात थी तो खुद भी चले गए होते सीता के साथ जंगल में तो कुछ बात थी कुछ गौरव होता है एक असहाय स्त्री को गर्भिणी स्त्री को यूं भेज दिया जंगल में मगर ये नारी का आदर्श है सीता नारी का आदर्श है राम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है वो पुरुषों के आदर्श है तुम्हारे पति अगर तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार भी करे तो भी शुभ तुम तो चुपचाप झुके जाना पिटे जाना तुम्हारा काम ही यही है स्त्री तो पैर की जूती है पांव की दासी है स्त्रियों को काट दो उनको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं शूद्रों को काट दो उनको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं ये जान के तुम चकित होगे कि हम कैसे बर्दाश्त कर रहे आज तुम गालियां देते हो आज तुम नाराज होते हो अगर कहीं शूद्र जला दिए जाते अगर कहीं शूद्रों के गांव में बलात्कार हो जाता है अगर कहीं शूद्रों की बस्तियां उजाड़ दी जाती तो तुम बहुत छिन्न भिन्न हो जाता तुम्हारा मन खिन्न हो जाते हो लेकिन राम ने क्या किया था